आध्यात्म रामायण बालकांड लोकान पादयुगम वापि वद शीघ्र ममाज्ञया अयम लोक परो वाथ तया गंतुम न शक्यते एवं तम हि प्रकर्तव्य वद शीघ्र मज्ञया अपने पुण्य से जिते हुए लोक अथवा अपने चरण इन दोनों में से मेरी आज्ञा से शीघ्र ही किसी एक को बताओ उसी को इस बाण से वेध डालूंगा अब तुम इस लोक या परलोक में कहीं नहीं जा सकते अब तुम्हारे साथ मेरा जो कुछ कर्तव्य है वह तुम मेरी आज्ञा से शीघ्र ही बताओ एवं वदति रामे भार्गवो विकृतानन संस्मरण पूर्ववृत्तांतम इदम वचनमब्रवीत राम राम महाबाहो जाने तम परमेश्वर रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर भृगुनंदन परशुराम जी का मुख मलिन हो गया फिर उन्होंने पूर्व वृत्तांत को स्मरण कर यह कहा हे राम हे राम हे महाबाहो मैंने आप परमेश्वर को जान लिया पुराण पुरुषम विष्णु जगत्सर्गलयोद्भव बाल्ये हम तमसा विष्णु आराधय तुम अंजसा चक्रतीर्थम शुभम गत्वा तपसा विष्णुमन्वहम अतोषय महात्मा नारायण मनन्यधि आप साक्षात संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के कारण पुराण पुरुष भगवान विष्णु हैं मैं बाल्यावस्था में तप के द्वारा विष्णु भगवान की आराधना करने के लिए अकस्मात परम पवित्र चक्र तीर्थ में पहुंचा और वहां प्रतिदिन अनन्य भाव से तपस्या करते हुए मैंने परमात्मा नारायण भगवान विष्णु को प्रसन्न किया ततः प्रसन्नो देवेश चक्र गदाधर उवाच माम रघुश्रेष्ठ प्रसन्न मुख पंकज हे रघुश्रेष्ठ उस समय शंख चक्र गदाधारी प्रसन्न वदन देवेश्वर विष्णु ने मुझसे प्रसन्न होकर कहा श्री भगवानुवाच उत्तिष्ठ तपसो ब्रह्मण फलित ते तपो महत मच्चिदंसेन युक्तस्व जय है है पुंगव कार्तवीर्य पितृहैणम यदर्थम तपस श्रम तप्त स्त्री सप्तकृत्वस्व हवा क्षत्रिय मंडलम श्री भगवान बोले हे ब्रह्मण तपस्या छोड़कर खड़े हो जाओ तुम्हारा महान तप सफल हो गया तुम मेरे चिदंश से युक्त होकर जिसके लिए यह तपस्या करने का कष्ट उठाया है उस पितृघाती है, है श्रेष्ठ कार्तवीर्य का वध करो और फिर 21 बार समस्त छत्नियों को मारकर कृष्णाम भूमि कश्यपाय दत्वा शांतिम उपावह चेता मुखे दासरथिर भूत्वा अव्यय उत्पश्ये परया शक्त्या तदा दक्षति मत मत्तेज पुनरादास्ये त्वयि दत्तम मया पुरा संपूर्ण पृथ्वी कश्यप जी को दे शांति लाभ करो मैं अविनाशी परमात्मा त्रेता युग में दशरथ के यहाँ राम नाम से जन्म लूँगा उस समय मेरी परम शक्ति सीता के सहित तुम मुझे देखोगे तब पहले इस समय तुम्हें दिया हुआ अपना तेज मैं फिर ग्रहण कर लूँगा तदा तपस्चरण लोके तम ब्रह्मणो दिनम इतुक्तांतरदे देव तथा सर्व कृतम मया तब से तुम तपस्या करते हुए कल्पांत पर्यंत पृथ्वी में रहोगे ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए और मैंने जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही किया